नमस्कार मित्रों आज की तारीख है 22 अगस्त 2012 बुधवार ये वीडियो है गुजरात के एक लोकल इशू वैसे वो इतना बड़ा इशू है कि नेशनल इशू क्या इंटरनेशनल इशू बोलना चाहिए कि कांग्रेस के कुछ भ्रष्ट एमएलए हैं भ्रष्ट the corrupt MLA of Congress वो गुजरात के लोगों में पूरे गुजरात में फॉर्म बांट रहे हैं घर नु घर योजना कि फॉर्म महिलाओं को मिलेगा और वो फॉर्म भरो और तुम्हें घर मुफ्त में मिल जाएगा या दो पांच लाख सस्ते घर में मतलब बीस लाख का घर पंद्रह लाख का घर दस लाख का घर दो लाख पांच लाख में मिल जाएगा इस तरह का वो फॉर्म बांट रहे हैं और वो फॉर्म भर के दो तो लोग एक एक दो दो दिन वो फॉर्म के लिए लाइन में खड़े रहते हैं इतनी लंबी लाइनें लगती है अब मैं कुछ लीगल टेक्निकलिटी के द्वारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि वो फॉर्म 100 परसेंट नॉनसेंस है और it's a criminal act of cheating मैं यहां तक कहूंगा वो पैसा नहीं ले रहे उससे चीटिंग का क्राइम वैनिश नहीं होता डिमिनिश होता है कि उन्होंने वो पैसा नहीं ले रहे बाद में बताऊंगा कि वो पैसा भी ले रहे हैं पर वो पैसा नहीं ले रहे तो उससे चीटिंग का जो इल्जाम है वो डिमिनिश नहीं होता कम होता है थोड़ा पर पूरा का पूरा खत्म नहीं होता चीटिंग किस तरह से है कि वो कहते हैं कि कांग्रेस में पावर में कांग्रेस यदि मेजोरिटी में आएगी उनका सीएम बनेगा उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो ये फॉर्म भरो इस फॉर्म के ऊपर हम आपको घर दिलाएंगे अब मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई कांग्रेस का सीएम आ गया तो वो कांग्रेस के दिए हुए फॉर्म के ऊपर घर नहीं दे सकते क्योंकि वो फॉर्म गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने नहीं भरा ये तो प्राइवेट एंटिटी के फॉर्म है प्राइवेट एंटिटी ने कोई फॉर्म छापा और वो फॉर्म तुम गवर्नमेंट की कचहरी में लेके गए उसकी कोई वैल्यू नहीं है यदि कांग्रेस पावर में आती है गुजरात में और सस्ते घर देने की योजना बनाती है तो एक पहले गैजेट नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा गैजेट नोटिफिकेशन में पूरा प्रोफॉर्मा लिखना पड़ेगा कि कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है उसके मुताबिक फॉर्म निकलेंगे वो फॉर्म गुजरात गवर्नमेंट की ऑफिस से निकलेगा पटवारी की कचहरी से फिर वो फॉर्म पे लिखा हो कि इस फॉर्म की कॉपी मान्य रहेगी तो अलग बात है वरना आम तौर पे जो गवर्नमेंट के अंदर आपको फॉर्म देना है वो फॉर्म आपको गवर्नमेंट के ऑफिस से लेना होता है सिवा कि गवर्नमेंट ने लिखा हो कि ये फॉर्म की जेरोक्स मान्य है या तो गवर्नमेंट ने उसको वेबसाइट पे रखा है और वो फॉर्म गवर्नमेंट ने इश्यू किया है और उस फॉर्म की कॉपी में आप नाम लिख के डिटेल्स लग के जब आप गवर्नमेंट की कचहरी में जमा करो तब उस फॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट का आदमी एक्शन लेके आपको सस्ते या आ, मतलब सस्ते घर दे सकता है यानी कांग्रेस पावर में आई तो ये जो कांग्रेस फॉर्म भरवा रही है उसकी दो टके की वैल्यू नहीं है गवर्नमेंट के अंदर मुझे कोई भी आदमी गवर्नमेंट का कानून दिखा दे कि इस कानून ये कानून के द्वारा वो कांग्रेस की कचहरी में जमा किए गए फॉर्म कांग्रेस के द्वारा छापे गए फॉर्म को वो मान्यता देके स्वीकृत करेंगे वो पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब कि जो फॉर्म आ भी गए वो रद्दी के सिवा कुछ नहीं है उनको दोबारा भरने पड़ेंगे और फॉर्म के बारे में देखो बहुत सारे फॉर्म पे सीरियल नंबर नहीं है वो फॉर्म का ऊपरी हिस्सा है निचली हिस्सा रिसीट है न ऊपरी हिस्से में सीरियल नंबर है न नीचे के हिस्से में सीरियल नंबर है तो जो जनरली रिसीट और फॉर्म के बीच में ट्रैकिंग कैसे होता है कि दोनों के ऊपर सेम सीरियल नंबर होता है तो आपको जो रिसीट होती है उसके ऊपर सीरियल नंबर है उससे ऊपर उसके द्वारा फॉर्म का सीरियल नंबर देखा जाता है फिर देखा जाता है कि वो सीरियल नंबर कौन सी फाइल में डाला गया और वो फाइल को निकाल के वो फॉर्म को देख के आपको जवाब देते हैं जब फॉर्म के और रिसीट के सीरियल नंबर नहीं है तो ट्रैकिंग कैसे होगा वो सारी बात तो छोड़ो उसके बाद एक आदमी एक फॉर्म भर रहे हैं या दस फॉर्म भर रहे हैं वो लोग कोई चेकिंग नहीं कर रहे हैं एक एफिडेविट भी नहीं ले रहे कि भाई एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरा कोई किसी भी गवर्नमेंट की ऑफिस में जब इस तरह की स्कीम होती है तो कुछ नहीं तो वो दस रुपए के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट मांगते हैं ये कहने के लिए कि भाई आप इस स्कीम का एक से ज़्यादा बार कहीं आपने पहले एडवांटेज नहीं लिया और यदि एडवांटेज लिया तो आपको ये फाइन होगा वो फाइन होगा और वो फाइन तो गवर्नमेंट कर सकती है कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट थोड़ी है कि लोगों को पांच रुपए का भी फाइन दे सक, कर सके तो इस फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं है इस फॉर्म को भरा रहे हैं और घर का लालच दे रहे और इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस की पार्टी पार्टी के जो एमएलए के कार्यकर्ता है एमएलए के सेक्रेटरी वो पब्लिक में जाके अब क्या प्रचार कर रहे हैं कि भाई लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है आपका नंबर तो बहुत पीछे चला जाएगा आप पांच सौ हजार रुपया दो तो हम आपका नाम आगे करा देंगे और इस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता गली गली में घर घर जाके पांच सौ हजार रुपया बटोर रहे which is a criminal act of cheating और बदले में कोई रिसीट तो दे नहीं रहे और रिसीट देंगे और पांच सौ रुपया उसने मान लो दस पंद्रह हजार लोगों से लिया जिस तरह से आसपास के लोगों से हजार लोगों से लिया पांच लाख रुपए इकट्ठा हो गए अब वो आदमी तो घर बदल के कहीं और चला जाएगा मैं मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ मैंने हजार दो हजार लोगों से पांच सौ पांच सौ रुपया लिया दस लाख रुपया आ गए मैं अपना घर बेच के दस लाख ऐड करके कहीं और घर खरीद लूंगा दस पंद्रह किलोमीटर दूर कहां पर वो ये 500 लोग मेरे पास 500 रुपए के लिए झगड़ने आएंगे तो इस तरह से जो कार्यकर्ता है एमएलए एमएलए के सेक्रेटरी वगैरह एमएलए वो फॉर्म ले रहा है और एमएलए सेक्रेटरी वो पास के दरवाजे से जाके कहता है कि आपका फॉर्म तो बहुत पीछे आएगा इतने सारे लोगों की लाइन लगी आपको प्रायोरिटी चाहिए तो आइए पांच सौ दो और मैं आपका फॉर्म है वो प्रायोरिटी में रखा देता हूँ और वो फॉर्म के ऊपर प्रायोरिटी का सिक्का मार के देते हैं भाई रिसीट के ऊपर तो सिक्का लगानी है प्रायोरिटी का मैं फॉर्म लेके बाहर निकल गया मेरे फॉर्म पे प्रायोरिटी का सिक्का लगा वहाँ जो जो, जो मेरी रिसीट पे वहाँ जो फॉर्म पड़ा है उस पर कोई प्रायोरिटी का सिक्का नहीं लगा तो उस फॉर्म को प्रायोरिटी मिलेगी कैसे यानी ये जो फॉर्म है मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ये फॉर्म कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑफिस में रख भी नहीं रहे जैसे ही फॉर्म आया वो गाय भैंस को खिला देंगे उनके ऑफिस में यदि छापे मारे जाए तो एक भी फॉर्म नहीं मिलेगा सारे फॉर्म वो नष्ट कर देते होंगे कि कौन इस रद्दी को रखे ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हम कर रहे हैं इस कागज की कोई कीमत नहीं है तो अभी क्या किया जा सकता है ये आ, क्रिमिनल चीटिंग के एक्ट को रोकने के लिए मेरे पास मैं अखबार में एडवर्टाइज देता हूँ और मैं अपने पैसे से देता हूँ मतलब मेरी जो कमाई होती है उसमें मैं मतलब जो भी 20, 25, 30 परसेंट टैक्स भरता हूँ उसके बाद जो पैसा बचता है उससे मैं एडवर्टाइज देता हूँ तो इसलिए मैंने बांग्लादेशों के ऊपर एडवर्टाइज दिया लोकपाल के ऊपर एडवर्टाइज दिया ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है मैं एडवर्टाइज देने को सोच रहा हूं पर मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं दे सकूं वरना एक पब्लिक इंटरेस्ट में एडवर्टाइज देना चाहिए कि कांग्रेस वाले जो कर रहे हैं वो हंड्रेड फ्रॉड है इस घर के फॉर्म की कोई कीमत नहीं है और कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए जिसमें कांग्रेस के एक एक ऑफिस बियर को और एक एक एमएलए को पार्टी बनाना चाहिए कि आप लिखित में एफिडेविट दो कि क्या आप लोगों को घर देने वाले हो और लिखित में एफिडेविट नहीं देंगे उसके बाद दिया तो, तो और क्रिमिनल केस बड़ा क्रिमिनल केस हो सकता है उनके सामने तो कांग्रेस के जो जो सोनिया गांधी है एआईसीसी के प्रेसिडेंट और से लेके मनमोहन सिंह सेंटर के बड़े लीडर और स्टेट के बड़े लीडर और गुजरात एमएलए के गुजरात के सारे कांग्रेस के एमपी और गुजरात के सारे कांग्रेस के एमएलए इनके ऊपर लीगली हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल किया जा सकता है क्रिमिनल केस ऑफ चीटिंग कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोगों को धूर्त बना रहे हैं और कोर्ट के अंदर इनके नार्को टेस्ट की डिमांड करनी चाहिए कि पब्लिक में इनका नार्को टेस्ट लिया जाए कांग्रेस के एमएलए का कि क्या सचमुच आपके घर के देने की नीयत है या सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो चलो एक आदमी ने नार्को टेस्ट किसी तरह से मैन्यूपुलेट कर दिया दूसरे ने मैन्यूपुलेट कर दिया लेकिन 10-15 कांग्रेस के एमएलए की जब नार्को टेस्ट लिया जाएगा तो 12-15 तो सच मतलब 15-20 का नार्को टेस्ट लिया जाएगा तो 12-15 तो सच लेंगे कि कौन सा घर कौन सा आ, कौन वोटर कौन सा फॉर्म कुछ होता नहीं है हमने तो सिर्फ फॉर्म छाप के बांट दिए और जो आ रहे हैं उनसे हमारे कार्यकर्ता पांच हजार ले रहे हैं और एमएलए के नार्को टेस्ट लिया जाए तो ये भी निकलेगा कि एमएलए ने खुद कार्यकर्ताओं को कहा होगा कि जाओ लोगों से पांच हजार बटोर लो वोट देने होंगे तो देने होंगे लेकिन अभी तो 500,000 सौ हजार उनसे बटोरी लो और बोलो कि यदि 500,000 सौ हजार दोगे तो उनका प्रायोरिटी में नाम आ जाएगा अब इस तरह का जो ये चोरी है वो रुकनी चाहिए मैं मुझे मैं तो हैरान हूं कि हाईकोर्ट के जज ने सुओ मोटो रीड क्यों नहीं किया इसके ऊपर यदि हाईकोर्ट के जजों में दो टके की ईमानदारी होती तो एक ना एक हाईकोर्ट जज ने तो सुओ मोटो रीड कर देना चाहिए था इस पर कि ये क्या आ, बड़े पे इतने बड़े पैमाने पे चीटिंग हो रही है Uh, uh, एक घर की कीमत एक लाख दो मतलब दो लाख कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लाख दो लाख मिनिमम होती है uh, गुजरात में मतलब एक करोड़ से ज़्यादा गरीब लोग हैं ज़्यादा सॉरी सॉरी अस्सी लाख फैमिली है तो बीस तीस लाख से ज़्यादा फैमिली है जो कि गरीब है तो 30 लाख लोगों को एक लाख से मुझे मल्टीप्लाई भी नहीं करना लेकिन इतना पैसा ना कांग्रेस के पास तो छोड़ो गुजरात गवर्नमेंट के पास भी नहीं है कि इतने लोगों को दो साल के अंदर घर दे सके तो ये proper criminal case of cheating है और मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के जितने भी ऑफिस बियर और सिटिंग एमएलए उनके सामने क्रिमिनल कंप्लेन होनी चाहिए और इनका पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए इससे प्रूव हो जाएगा कि उनको घर देने की कोई नियत ही नहीं है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हाईकोर्ट के जज को लेटर लिखे या आ, उनको ईमेल भेजे या किसी भी तरह से उनको कहो कि इनके खिलाफ पीआईएल एडमिट करें धन्यवाद देखो आप गुजरात में अहमदाबाद में आपका कोई दोस्त हो गुजरात में तो उसे पूछना कि कितनी लंबी लाइन लग रही है फॉर्म के लिए यदि किसी को सचमुच इस तरह से घर देने हैं और उसकी नियत दो टके की भी नीयत है तो वो आदमी क्या करेगा वो फॉर्म के लिए क्यों लोगों को लाइन में बुलवाएगा अखबार में वो बोलेगा लोगों को भी फॉर्म डालो मैंने कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कीम में देखी थी कि जब गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर कोई स्कीम का प्रचार करनी चाहती थी जैसे पोलियो का पोलियो का प्रचार करना चाहते थे तो पोलियो की बड़ी एडवर्टाइजमेंट देती थी इसी तरह से आ, आ, एक एक गवर्नमेंट को एक स्कीम प्रमोट करनी थी जिसके लिए लोगों के फॉर्म मंगाने थे तो पूरा फॉर्म उन्होंने अखबार में छाप दिया देखो यदि किसी आदमी की नीयत है कि वो सचमुच देना चाहता है तो वो फॉर्म के लिए लोगों को दो दिन मतलब क्यों घंटों दो घंटों दस घंटों लाइन में खड़ा रख रहा है अखबार में छाप दो फॉर्म कि और लोग फॉर्म ले लेंगे या तो सेरोस कर लेंगे अखबार में से या तो वेबसाइट पे डाल के अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे दो कि इस यूआरएल पे फॉर्म मिल जाएगा आप लोग वहां से डाउनलोड करके साइबर काफे को लोग पचास पैसे एक रुपए में बांटना शुरू कर देंगे फॉर्म को लेकिन वो लोगों को धक्का खिलाना चाहते हैं ताकि उनकी कांग्रेस में ऑफिस में जाके उनको लगे कि हाँ कांग्रेस की ऑफिस में उन्होंने फॉर्म दिया अब कांग्रेस को पावर मिलेगा तो वो कांग्रेस को वोट मिलेगा तो कांग्रेस उन्हें घर दिलाएगी और यदि कांग्रेस को इस तरह से घर दिलाने होते इतने भारत के इतने सारे राज्यों में कांग्रेस है राजस्थान में है महाराष्ट्र में है वहां कितने गरीबों को घर दिलाया पिछले पांच साल में दस साल में राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट पिछले तीन चार साल से है महाराष्ट्र में तो दस एक साल ऊपर हो गया और ये आंध्र प्रदेश में है दस पंद्रह साल से दस साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो वहां तो मिले हैं मतलब लाख दो लाख गरीबों को घर मिले हैं पर जो बात चल रही है कि तीस लाख गरीबों को घर दिलाएंगे साल दो साल के अंदर में इस तरह का बड़े पैमाने के हाउसिंग प्लान कांग्रेस ने किसी भी स्टेट में नहीं किया तो गुजरात सरकार क्या करेगी तो ये 100 परसेंट फ्रॉड स्कीम है जिसको मैंने आप जैसे आपको बताया कि हाईकोर्ट में किसी को क्रिमिनल कंप्लेन फाइल करनी चाहिए कांग्रेस के एक एक नेता को पार्टी बना के और इससे उनके सामने क्रिमिनल उनसे एफिडेविट मंगाना चाहिए और एफिडेविट में जब वो सच बोलेंगे तो और उनको घेरो और झूठ बोलते हैं तो वो एक्सपोज हो जाएंगे धन्यवाद